गीता अ अठारह के श्लोक नंबर बासठ में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहाँ है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन ऐसा है जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कल के प्रकरण में कि ज्योत निरंजन इसे ब्रह्म कहा और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है पर ब्रह्म से ऊपर की जो शक्ति है उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं ऊपर का तात्पर्य है सुपीरियर शक्तिशाली जैसे दादा और परदादा पिता के एक पिता फिर दादा और परदादा इस प्रकार इनसे सुपीरियर जो शक्ति है वो पूर्ण ब्रह्म है ब्रह्म और पार ब्रह्म से ब्रह्म तक का ज्ञान वेदों में मिला है योगियों ने खोजा है वेदों ने वर्णन किया है उसके आगे का जो ज्ञान है परब्रह्म तक की वर्णन अवश्य है लेकिन जानकारी नहीं है क्योंकि सेंसरार कमल तक ब्रह्म है ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है योगियों का कित वर्णन नहीं पाता कि भी उन्होंने पार ब्रह्म को सेंसरार कमल में बताया ब्रह्म को बताया अब जब ब्रह्म और पार ब्रह्म दो अक्षर हैं तो दो उनके गुण भी होंगे उनमें दो काम भी होंगे जैसे मंत्री और प्रधानमंत्री बहुत अंतर हो जाता है अब कोई न कह ब्रह्म को ही पर ब्रह्म कहते हैं और पर ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं ऐसा नहीं अगर कोई मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री या सेंटर का होम मंत्री का है तो अच्छी नहीं जची नहीं है बात क्योंकि मुख्यमंत्री के कुछ और शक्तियां जरूर हैं लेकिन प्रधानमंत्री का समान नहीं हो सकती मिलती जुलतियां होती हैं क्योंकि कार भी है कोठी भी है झंडी भी है और सुविधा सारी होती हैं लेकिन उसी सुविधाओं को देखकर उन्हीं शक्तियों को हम परिचित होकर के ये मान लें कि ये जो दूसरी कार में हो मुख्यमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री को भी ऐसा अणजान आदमी कह सकता जिसने कतिय बेरा ना हो जिसको जानकारी है वो अच्छी तरह समझ सकता अब हम आपको क्योंकि स्वामी दयानंद जी महाराज ने ऋषि जी ने हमें बहुत कुछ समाज को दिया और माना जाता है अभी आपको हम सत्कार प्रकाश से उनका वर्णन सुनाएंगे उनका अपनी व्याख्या जो कि बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मान करके हमें स्वीकार किया था और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी का ज्ञान आप सुनोगे जब अपने आप पता चल जाओगा कि ज्ञान ये भी है ये ब्रह्म तक का जानकारी है इससे ऊपर जानकारी है सतपुरुष की पर ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म तो ये सत्यार प्रकाश प्रश्न नंबर एक सौ चौहत्तर वेदों का प्रकाश वेद ग्रंथ ऐसा इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई तो प्रश्न करता प्रश्न कर रहा है कि जब निराकार है तो परमात्मा हाँ प्रश्न करता है कि परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि उत्तर निराकार मानते हैं ये चौरासी माह प्रश्न है एटी फोर वो कहते हैं मैं निराकार मानता है मानता हूं फिर कहते हैं प्रश्न करता प्रश्न कर रहा है कि जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के उच्चारण कैसे हो सका होगा क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तत्वादि स्थान जीव का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए उत्तर स्वामी जी देते हैं कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की उपेक्षा अपेक्षा नहीं है क्योंकि मुख जीवा से उच्चारण अपने से भिन्न के बोध होने से किया के लिए किया जाता है कुछ अपने लिए नहीं क्योंकि मुख जीवा के व्यापार में करने करे बिना भी मन के अनेक व्यवहारों का विचार और शब्द उच्चारण होता रहता है कानों को उंगलियों से मूंद कर देखो सुनो बिना मुख जीवा तलवादी स्थानों से किसे कैसे शब्द हो रहे हैं वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ रूप से आत्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिए ईश्वर में दोष नहीं आता यह स्वामी जी का कहना है कि परमात्मा तो निराकार है पर वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के अंदर आकर अपना विचार अपनी ज्ञान दे देता है ठीक है अब प्रश्न किया है कि किन आत्माओं में कब वेद का प्रकाश किया उत्तर दिया स्वामी जी ने ने के संस्कृत भी लिखा है या किसी ब्राह्मण का आगे प्रकरण भी दे रखे प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सबसे पहले भगवान ने अग्नि वायु आदित्य तथा अंगीरा इन ऋषियों की आत्मा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया अब विचार से सुनते जाइयो कि एक ऋषि की आत्मा में परमात्मा ने एक वेद का ज्ञान दिया चलो हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा ने उस ऋषि को इतना योग्य समझा कि एक ज्ञान एक वेद के ज्ञान से ज्यादा युग कह भी नहीं सकता अर्थात वो पूर्ण पुण्य आत्मा नहीं होगी शुद्ध आत्मा क्योंकि शुद्ध आत्मा में भगवान अपनी व्याख्या करता है चलो अच्छा जी आगे चलते हैं कि चार ऋषियों ने चारों वेदों का वर्णन किया तो इस प्रकार यह प्रश्न है कि या वह ब्राह्मणम विदिता ये वैसे संस्कृत है उसका उत्तर है कि प्रश्न हिंदी में है कि यह उपनिषद का वचन है इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अन्य आदि ऋषियों अग्नि आदि ऋषियों की आत्मा में क्यों कहा ब्रह्मा की आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया देखो मनुस्मृति में क्या लिखा है यानी स्वामी जी मनुस्मृति को भी मानते हैं उधर से ब्राह्मण जो ब्राह्मण चार पांच ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों को भी मानते हैं कि उनमें भी भगवान ने आकर अपनी व्यवस्था दी और उन ऋषियों ने अपनी व्याख्या अपने अनुसार क्योंकि परमात्मा ने बताया ने लिखा ऐसा इनका मान, मानना है और इस जिस प्रकार जिस परमात्मा ने सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि और चार महाविषयों विषयों के द्वारा चार वेद चार महर्षियों के द्वारा चार वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के से यजुर श्याम और अथर्वेद का ग्रहण किया अब ये स्वामी जी मानते हैं कि मनोसमृति में यू लिख रखा है कि प्रथम परमात्मा ने ब्रह्मा को वेद दिए और फिर वेद ब्रह्मा ने आगे इन तीन चार ऋषियों को के मुख से कहाया अब इस बात को इसको तथ लेकर चले हैं स्वामी जी इसका शीर्षक हुआ कि यहां वो ब्रह्मा को मानते हैं अगर मनुस्मृति को समर्थता दी है तो ब्रह्मा भी माना इन्होंने उधर से कहते हैं कि ब्रह्मा कोई ऐसा वो नहीं है वो एक आदमी था व्यक्ति था अब आगे लेते हैं कि प्रश्न किया कि किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया अब स्वामी जी कहते हैं कि जो किसी देश भाषा देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती होता इस सरकार प्रकाश कर रहा है आप ध्यान से सुनिए विचार कीजिए हम फिर इसको विस्तार से बताएंगे आपको कि पक्षपाती किस तरह होता है तो क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने में होती कहते हैं कि अगर किसी की मातृभाषा में जैसे हरियाणवी भाषा में लिख देता तो दूसरी भाषा में दिक्कत होती और तीसरी भाषा में लिख देता तो उनको होती इसलिए भगवान पक्षपात नहीं किया और संस्कृत में कर दिया जो कि किस्से का समझ में नहीं आवती संस्कृत आज बताओ कितने प्रतिशत जान सकते हैं अब आगे चलिए इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया जो कि किसी देश भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश व देश, वा, देश वालों के लिए एक सी है सब शिल्प विद्या का कारण है वैसे परमात्मा परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक ही होनी चाहिए सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम करने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं का कारण भी है अब बंदी छोड़ महाराज के बारे में हम बताएं कि संस्कृत वो परमात्मा पक्षपाती है या ये से गरीबदास परमात्मा ने सब भाषाओं में अपने उन्हीं चारों वेदों को सरलार्थ किया सरल किया और जो का क्यों तो, और सब शास्त्रों को बताया कति जाटू भाषा में जिस भी देश की जैसी भाषा इस ग्रंथ साहिब में सभी देश और प्रदेश की सभी भाषाओं का मिश्रण है उर्दू फारसी अरबी तुर्कानी हिंदी कति मातृभाषा वहां की भी मातृभाषा एक शब्द है इसमें पोइस बाबा पोइस है चला जावा पथ पोइस है और जिन पोइस का मर्म ना जाना वो जन्म अकार आगे पोइस पाछ पोइस पोइस पोइस ओइस है और जिन पोइस का मर्म ना जाना जन्म अकार खोइस है गरीब दास चालू हाथ छोड़ो जहां आवागमन नहीं हो से पोई तो ये एक बिहार की भाषा है एक बिहारी था कि वो कहने लगा जी पोईस रास्ते को कहते हैं रा के सब पंथ कहते हैं पंथ पंथ हो रहा है रास्ता रास्ता हो रहा है रास्ता असली वो से जो सत मार्ग दर्शक को आपको दे आगे पोईस पाछ पोईस और पोईस पोईस होइस है यानी पीछे जो हमने जानकारी हुई वो भी रास्ता ज्ञान था आगे जो अब दे रहे हम यो भी पोई सबीरा जहां तक वेद बता अगर डट गए हम वहां से आगे आपको बता रहे हैं यो भी रास है और कहते हैं जिन पोइस का मर्म नहीं जाना वो जन्म अकारत गरीब दास वहां जा ले छोड़ू जहां आवागमन नहीं हुई से स्वामी जी खुद मानते हैं कि जीव अमर नहीं हो सकता कोई चार मुक्ति नहीं है और जबकि अन्य विद्वान जितने भी आज तक किए हुए सब इन मुक्तियों को मानते हैं कि चार मुक्ति हमारे ऐसे ऐसे प्राप्त होती है अब यहां देखिएगा कि बंदी छोड़ भगवान ने उनकी पोइस अचला जावा पग पोइस है जो पाया चाल पग पोइस यानी उस सरलार्थ भी और शब्दार्थ भी और साथ में उसका भावार्थ भी और कहना के चाह वो भी कह दिया पोइस चला जावे पद पोइस है जो पाए चाल कर जा रास्ता राई से उस पोइस का यहाँ कोई नहीं जानता और वहां पत्थर नहीं जानते पग में तो दोनों को समझा दिया चला जाओ पग पोई से पाया चाल है ओ पोइस उस पोईस को हम भी समझ पाए कि पग पाया चाल पड़े उसने राह का आकर रास्ता से तो भगवान यू अच्छा दी इसने गटमट गटमट करके चार आदमी आगे सीमित कर दी और उन्होंने अपने ढंग से गोट कर उस विद्या को गलत किया किसी प्रकार भी प्रचार किया और आज दुनिया को नास्तिक बना दिया अपने स्वार्थों से तो जब तक हमने बंदी छोड़ गरीबदास जी के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा इतने हम भक्ति पकड़ नहीं सकते रास्ता लग नहीं सकते इन्होंने कति किसी की क्रिटिसाइज नहीं करी और ये जो ग्रंथ साहब सत्कार प्रकाश है इसमें केवल क्रिटिसाइज नब्बे प्रतिशत भरी हुई है ये प्रश्नोत्तरी नारी है आपको आगे दिखाएंगे कि उस पंथ में ये घटियापन है उसमें ये घटियापन है वो इतने गंदे हैं उन वो ऐसे करते हैं कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी मैंने दी थी ए बी सी का भी ज्ञान मेरे ख्याल में ख्याल के बिल्कुल प्रमाणित है कि स्वामी जी ने नहीं था बंदी छोड़ के बारे में और फिर भी लिख दिया कि वो तो एक कुछ बुद्धिजीवों का रास्ता से और जो है उसके से नीच व्यक्ति इकट्ठे हो जाया करते उन पर अपनी धाक जमांदा जाए पाछ लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया कोई नहीं जैसा भी कोई लिखा अपने लिए लिखता है <clears throat> अपनी बुद्धि अनुसार नहीं लिख सकता है कोई ऐसी बात नहीं अब आप जानकारी पूर्ण रूप से हो जाओगे जब आपको पता चल जाएगा कि बंदी छोड़ क्या चीज थी तो यहां लिखा है इसलिए क्या एक ऋषि ने एक एक ही उसका बोध था क्या नाम है वेद का अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था और बंदी छोड़ने जब एक ने चारों वेद छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिष्ठ महाभारत गीता एक अनपढ़ आदमी के लिए जिसको कति ज्ञान नहीं है उसके लिए ये सब ज्ञान इसलिए इस तरह समझो कि कहीं कुछ हुआ ना हो आप नवजात शिशु को दस साल के बच्चे ने पकड़ो और उससे पूछो कि महाभारत कद हुई थी वेद के बताओ से वो नहीं बता सकता वो कन्नू कहेगा क्यों उसे वेद किसे कहें वेद और ये दस साल के बच्चे ने बंदी छोड़ कबीर शाह गरीबदास ने अपनी वो चारों वेद बताए अठारह पुराण ग्यारह उपनिष्ठ महाभारत गीता वो सब कुछ लिख दे और फिर अगला अपना भेद बता दिए यहां तक बिल्कुल सही मिला दिया कि ये ठीक से भाई अर्थात उस बच्चे ने जब वो पछला ज्ञान था तो आगे जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता जब पिछला सही मिला है तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे बंदी छोड़ने ईश्वर निराकार है वह आकार में नहीं आता ये 155 पेज पर है और उधर से आपने यजुर्वेद के पांचवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में कल परसों हमने बताया था कि वो खुद मानते हैं वेद मानते हैं महर्षि जी तो चाहे ना भी मानते परंतु वेदों का तो सरलार्थ जो का तुम किया कि वो ईश्वर वो कबीर नाम का परमात्मा एक और वो सर्वव्यापक है जिससे सारी सृष्टि चेतन है सबका आधार है वो अपने सत धाम युक्त है धाम स्थान को कहते हैं जब भगवान का स्थान है लोक है तो वो आकार में भी है अर्थात निराकार निरा नहीं है ये कबीर साहब कहते हैं कि वो आकार में भी है आकार किसे कहते हैं जैसे हमने निर्गुण सरगुण निराकार शक्ति क्या होती है जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में या कहीं सत, अपनी आ, सरकारी दौरे पर होगा आकार रूप में पर प्रधानमंत्री की निराकार शक्ति सता उसकी धाक हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है कोने कोने में उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी निराकार शक्ति अपने राज्य में के कण कण में व्यापक है उसके नीचे आ जाइए डिप्टी कमिश्नर एसपी या और बड़े अधिकारी ले लीजिए कोई भी किसी महकमे का है उस बड़े अधिकारी की अपनी शक्ति भी उसके महकमे के हर कार्य क्षेत्र में सर्वव्यापक है ये देवी देवता में जाए दूसरे अवसर तो इस प्रकार मतलब भाव ये मतलब उदाहरणार्थ कह रहा हूं मैं इनको देवी देवता ना समझे ये देवी देवता है ये उदाहरण दे रहे तो इस प्रकार निराकार शक्ति है तो इसी प्रकार निराकार रूप में निरंजन अपने लोक में है जैसे आपको कल दिखाया था इसका अलग से एक लोक भी है और आकार रूप में और निराकार रूप में सर्वव्यापक है अपने इक्कीस ब्रह्मंड में जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है इससे ऊपर परब्रह्म है अक्षर पुरुष का जिसके नीचे पता नहीं कितने निरंजनावश और वो भी जैसे मुख्यमंत्री के नीचे दस बारह जिले कई कई बड़े राज्यों में बीस बीस पच्चीस पच्चीस भी हैं जिले आते हैं डीसी आते हैं आई अफसर आते हैं कमिश्नर आते हैं और इनसे ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है जिसके नीचे कई मुख्यमंत्री उनके आ जाते हैं यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है कबीर साहब ने जौका तो भेज दिया है और महर्षि दयानंद जी तथा अन्य ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक की जानकारी दी है ये आप सत्कर मानिए प्रश्न क्या कि ईश्वर साकार है कि निराकार उत्तर मिला निराकार क्योंकि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक न होता तो सर्वा सर्वाधिक गुणों भी ईश्वर के में न घट सकते क्योंकि प्रीमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव की प्रीमित नहीं है कृमित रहते हैं वह शीतोषण अक्षुदा तर्षा और रोग दोष छेदन वेदन से भी रहित नहीं हो सकता ये सब <clears throat> जैसे राजा नौका को तो भूखा भी मर सका है नौका ना अभी जैसे इनका भाव ये है कि भगवान आकार में है तो उसका सारे दुख होंगे ये गलत है जो परमात्मा ही हो गया उस पर दुख किसे चाहे आकार में है चाहे निराकार में इब कोई नौका के राजा निराकार शक्ति नहीं हो सकती आकाश में नहीं रह सकता क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह दुखी होना पड़ेगा उसने भूखा भी मरना पड़ेगा मात्र भी खाएंगे ये कति नहीं हो सकता राजा में राजा के पास वो सुविधा है वो ठाठ करेगा और आकार में रहेगा तो ये मतलब है सतगुरु कबीर साहब अनुसार गरीबदास जी अनुसार कति मिथ्या भाषण है ये भी नहीं कहेंगे कि मिथ्या है कि इनको जानकारी इतनी अच्छी कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकता अब जंगल में रहने वाले जंगलियों को कदे जान जान कभी राजा नहीं देखा हो और ना राजा के बारे में पता हो किसा हो आकर पर भय जरूर न हो भयभीत हो जाते हैं जैसे राजा के अनुसार जाकर उन्हें कूट छेत दें गोड़ीता ही मार दें उनको बदमाशी करते हो तो उनको भय जरूर से कि कोई शक्ति सी है जो वहां से आकर हमने तंग कर जाती है जैसे अवतार जाते हैं यहां से वहां से आते हैं तो इस प्रकार हम कति अपरिचित हैं उस परमात्मा के बारे में जो कि आकार और निराकार में है अगर हम केवल आकार में निराकार में मानते हैं तो ये सारे वेद फेल ना सारे शास्त्र फेल हमने और आकार में मानते हैं तो स्वामी जी फेल और ब्रह्म भी फेल वेद भी फेल हमने दोनों को लेकर चलना होगा और दोनों को लेकर कबीर साहब चले कि ये शास्त्र भी ठीक बताओ और ये भी ठीक बताओ जैसे पांच अंधे थे उनको किसी ने कहा कि भाई हाथी बहुत बड़ी जीव हो स बहुत नो कर दे सह उसमें इतना नो खेच ले सह नो बोला बहु हाथी हमने भी दिखा दो पांचों अंधों को हाथी के पास जाकर छोड़ दिया अब एक कहता पांच आगे एक का पूछड़ एक पेट पेट तले के यानी शरीर पर हाथ फेरे से और दूसरे का उसकी सूंड ठहगी एक का कान का हाथ लग गया पूरा विवरण ले लिया उसका कान का किसा होश है छाज कैसा होश है अपने मन में विचार किया फिर हाथी के पांव जिसके ठहरे थे वो आकर के फिर पूछा भाई देखा है हाथी खूब देखा है ये जो समाधिस्थ होने वालों के ऊपर व्याख्या है अनजानपने में तो वहां क्या हुआ जिसका पांच आए थे ओने बोला हाथी बताओ किसा होश है अग देख का हथ लाग ने बोला थाम कैसा उस है जिसका पुछड़ ठाई थी ने बोला पटे कैसा उसा थी जिसका कान्ना का विवरण ले कहा था पूरी जानकारी ने बोला छाद देखा है हाथी छाद कैसा उस है जैसा होता और सूंड ठाई थी ने बोला रबड़ की नाली सी हो ना मोटी ईसा उषा थी और का छोड़ ने हाथी तो भाई थाम के साउस है जिसका पेट पर हाथ फेरा था ना बोला बेटोड़े के साउस आती थे क्यों करड़ा करड़ा भी हो से और भार अभी इतना है उसे तब पांचों मुक्कम मुक्का घुसम घुस एक आ गया क्यों लड़ो सो नो बोला इसमें बेरा न ब्यारी अरनों का हाथी छाज के साउस हाथी तो ईसा मोटा उसे थाम के साथ और उन तो भाई के कह बोला बटोड़े के साहो साथी तो वो कैसे न बेरा कौन एक का बोला पटे के साउस तो वो न बोला जिसको पूर्ण जानकारी है बीरा ये उसके अंग है इन सबको मिलाकर हाथी बने अब कोई तो विष्णु ने भगवान मान रहा कोई शंकर ज्ञान कोई ब्रह्मा जी ने कोई हनुमान ज्ञान को गणेश ने को माता ने और कोई आ, क्या नाम ब्रह्म तक ही सीमित हो गए बंदी छोड़ते हैं कि ये उस पूर्ण ब्रह्म के अंश है ये पूर्ण परमात्मा नहीं है इन तक काम डग रहा है उसका और उससे भिन्न भी नहीं क्योंकि हर जीव महाराज कबीर साहब से आए हैं सतपुरुष से तो इस प्रकार की व्याख्या जो बंदी छोड़ने दी है बिरा यो की तय की तय मिलेगी इसलिए परमात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता क्योंकि वो सौर्य दुखी हो जाए फिर ऐसे भी यहां सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें अग्नि का भी असर नहीं होता अर्थात आप देखते हो धोने के ऊपर पांच पांच धोने लाकर जेठ की धूप में बैठ जाए उसमें कोई शक्ति सिद्धि है जिस तो उसका असर नहीं होता और आप बैठ कर दिखाओ जड़ नहीं जाओ होता तो इसका मतलब यह है कि जब उस एक व्यक्ति में मनुष्य धार शरीर करके आ रहा है एक संत भगत है और वो साधना कर रहा है उसका आगे भी असर नहीं कर रही तो परमात्मा तो उस तो बहुत सुपीरियर शक्ति है और वो आकार में आ जाता उस पर भी कोई है जहां पर उस पर कोई भी ये पांच तत्व असर नहीं करते तो इस प्रकार हमने जो जानकारी थी वो यही थी अच्छा दूसरी तरफ के लिखते हैं वेदों में आपको बता दिखाऊंगा कि महाराज कबीर साहब तथा अन्य शास्त्र और कबीर साहब उसको मान्यता देते हैं कि एक इंद्र नाम का भगवान से देवता है जो इंद्र लोक में रहता है जैसे चीफ इंजीनियर हुआ कर और वो पानी का पानी का सारा प्रबंध यानी पानी बरसाना बादल करना ये सब उसके अंडर आते हैं लेकिन और सारे ठाठ करता उसके इतनी उर्वशी है ऐसा लिख रखा है वो नो नाचता है ऐसे रहता है से ठाठ है उसके तरह कितनी को सुंदर सुंदर औरतें हैं वहां नाचती रहती है ऐस करता है तो वेदों में लिखा है कि वो ऐश्वर्यवान भगवान से अब बताओ यही खंड हो जाता है स्वामी जी का वर्णन कि उस पर फिर तो अगर वो आकार में है तो उसको वो सारे गुण सुख और दुख उसको सेध देंगे अब जब वो ऐश्वर्यवान है तो गुण सहित हुआ जब ऐश का भोग भोग रहा है वो परमात्मा तो उसमें जब उसमें सुख हो रहा है तो दुख भी होगा इन्हीं का अपना विचार खंड हो जाता है कि जब ऐश्वर्यवान भगवान लिखा है उन्होंने इंद्र को कि इंद्र जो वेदों वर्णन है इंद्र का भी ब्रह्मा जी का भी विष्णु जी का भी शंकर ज्ञा का भी पर उनको इन्होंने अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार उनको उपाधि दे दी ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया तो अब हम आपको बताते हैं सतगुरु कबीर गरीबदास जी के पास एक बार नौ योगी आ गए थे जैसे हमने आपको वर्णन दे चुके हैं उन्हें नौवा ने भंडारा महाराज से भोजन मांगा सुख का सीधा ग्रीक दास से छुडानी में और जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया तो दस थालियां में पात्रों में परोस दिया नौ योगी दस में बंदी छोड़ गरीबदास जी छुड़ानी आले जमींदार जाट कहो वैसे संत जाति नहीं मानते लेकिन या फीत जो लाग रही है ना न्यो बतानी पड़ा है कदे को नो सोचे विद्वान और संस्कृत विद संस्कृत के ज्ञाता विद्वान ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं या कति भूल से भाई इस चौंध को तोड़ने के लिए हम जाति जो संसारिक है बतानी पड़ रही है जैसे रविदास जी को बताया कि वो चमार जाति में थे इसलिए कि उन्होंने 700 ब्राह्मणों को भी नतमस्तिक कर दिया अर्थात विद्वानों की विद्वता की आवश्यकता नहीं आत्म कल्याण के लिए तो सभी जब दस थालियां में खाना परोस दिया गया और महाराज गरीब दासियों को भी उन्हें विनय करके बिठा लिया कि आप भी भोजन पा लो सतगुरु महाराज कहे थे आप भोजन पाओ हम तो यहीं रहते हैं फिर बाद में खा लेंगे नहीं आपने जरूर खाना होगा सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं नौ योगी बैठ गए दस योगेश्वर जो कि आकाश से उड़कर आते हैं और महाराज जी भी बैठ के खड़ा होकर एक ने शंख बजा दिया तैतीस करोड़ देवता आकाश मार्ग से आकर के साधु रूप में वहां सारी छुड़ाने की जमीन पर खत्म हो जाते हैं बहुत दूर तक ग्रीष्म ऋतु थी पहले जमीन खाली पड़ी रहा करती थी और कहने लगा वो योगी कि इन सबको भोजन करवा दो बंदी छोड़ने अपनी शक्ति से उन सबको अपनी थाली पर चादर डाल के और सबको भोजन वहीं से ऑटोमेटिक अपने आप थालियां चलती हैं सबको भोजन करवा दिया इस शक्ति को देख वो नौ योगी कहने लगे हे महाराज हमने नहीं मालूम था कि आपकी सतुति सुनी थी आपकी महिमा सुनी थी पर नो नहीं पता था कि आप सच्चे इतने मानसो सो फिर बंदी छोड़ने बोले कदे तुम नो सोचते हो कि मैंने वेद के बारे में ज्ञान नहीं है अब मैं आपको वेद के बारे में ज्ञान देता हूं महाराज जी कहते हैं कि वेद जहां तक ज्ञान देते हैं हम उसको सत्य मान रहे हैं गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं माना हम हमने लेकिन उस वेद के ज्ञान से काम नहीं चलता जीव जन्म मरण तक बंद खत्म नहीं होता ऐसा सतगुरु महाराज का कथन है अब आप सुनिएगा एक समय नौ योगेश्वर बार बार कह रहे थे कि वेदों में ऐसे लिखा है वेदों में यह साधना लिखी है कभी कहते थे वेद तो वेदों में यह क्रिया लिखी है ब्रह्म खोलने की यह वेद किसे कहते हैं कृपा बताने का कष्ट करें यदि प्रश्न किया सतगुरु महाराज से गरीबदास जी अंत बंदी छोड़ उत्तर देते तो ये मतलब एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ऐसे ही एक रमलू नाम का भगत गुरु भगत था गुरु भगत से प्रश्न करता बंदी छोड़ के शिष्ट तो वो उत्तर दे रहा है कि बंदी छोड़ ने मेरे सामने के के वर्णन किया भाई रमलो जब नौ योगेश्वरों ने वेद ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहा तब महाराज ने चारों वेदों के सारे मंत्रों की गिनती कर बताई तथा कही कि पांचवा वेद मुक्ति का है जिस जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं उसका आप महापुरुषों को पता नहीं इन चारों वेदों ने जो इस पांच तत्व के शरीर पुतले को सुरक्षित रखने व कुछ साधन करने कुछ समय के लिए बैकुंठ की झलक लेकर फिर चौरासी के चक्कर काटने के तरीके का वर्णन कर रखा से महाराज जी ने बताया कि हे योगेश्वरो आपको यह भ्रम होगा कि गरीबदास जी को वेदों का अर्थ या ज्ञान नहीं जानकारी नहीं है तो कहने लगे अब सुनो वेद का अर्थ ज्ञान यानी ज्ञान भी बोलना से इसने ज्ञान कह लो चाहे ज्ञान कह लो बात अपनी भाषा समझानता उसे कि ज्ञान की फेफरी भाषा की है ज्ञान किसी के वेद का अर्थ ज्ञान होता है चार वेद हैं चारों में अलग अलग ज्ञान है वेद की उत्पत्ति का भी कई महापुरुषों को भ्रम है कि कोई कहता है कि चार ऋषि परमात्माओं ने सर्वप्रथम पैदा किए अब ये देखो ना वो चार ऋषि भी तो भगवान ने पैदा किए होंगे इन चारों से ने समाधिस्थ होकर वेद ज्ञान लिखा प्रत्येक ने एक एक वेद की रचना की यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है कि वे ऋषि ज्ञान संपन्न नहीं थे क्योंकि एक ऋषि को एक ही वेद का ज्ञान था दूसरे का नहीं ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति महापुरुष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका ज्ञान श्रेष्ठ है सर्व सर्व ज्ञान उत्पन्न हो सम, सर्व ज्ञान संपन्न तो एक ही बहुत है जिस प्रकार कबीर साहब ने चारों वेद व अठारह पुराणों छह शास्त्रों और ग्यारह उपनिष्ठ गीता जी भागवत रामायण महाभारत का पूर्ण ज्ञान देकर के मुसलमान धर्म का भी ज्यो का तो वर्णन चारों कतेबों व मोहम्मद की उत्पत्ति तक का ज्ञान दे रखा है कि मोहम्मद जो धर्म, आ, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं वो कैसे उत्पन्न हुए और कौन से लोग तो आए थे अब आप बताओ कि चार ऋषि व बाद में पुराणों व गीता भागवत रामायण महाभारत लेखकों का ज्ञान श्रेष्ठ है या उस एक महात्मा या सारे ने सारा विवरण जो का तो ही लिख कर फिर आगे उनसे ऊपर की शक्ति का भी ब्यौरा दे रखा है वह श्रेष्ठ है नौ योगेश्वर ने कहा कि हम आप गरीब दास जी से कह रहे हैं ना कि कबीर साहब से ने बोले हम आपने पूछा हाँ कबीर साहब का नहीं पूछते आप अपने ज्ञान का परिचय दें महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो केवल एक ही सारे ही वर्णन का दे दिया उनका ज्ञान श्रेष्ठ अब यहाँ चारों को सबको ले लिया किसी ने तो अठारह पुराण ही ज्ञान था किसी ने चारों एक एक वेद लिख दिया किसी ने रामायण तसे तुलसी साहब ने केवल रामायण की ही व्याख्या की तो महाराज कहें उन सबको मिलाकर अकेले बंदी छोड़ कबीर साहब व दास जम हुआ सकती है इन सबको मिला और उनसे ज्यादा है क्योंकि उन आगे का भी ज्ञान दिया सारा विवरण तो ही लिख लिख कर लिखवा कर और फिर आगे का उनसे ऊपर की शक्ति का दौरा दे रखा है वह श्रेष्ठ अर्थात बंदी छोड़ महाराज को महाराज श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं और है भी नौ योगेश्वरों ने कहा कि हम आप यानी गरीबदास जी से कह रहे हैं ना कि कबीर साहब से यहां वार्ता चल रही है हमने ये वाणी लिख रखी है सतगुर तेरी वाणी अमृत किताब उसमें उत्तरी चला रखी है उसमें तो यहाँ कबीर साहब गरीबदास जी और योगेश्वर आपस में बात कर रहे हैं तो गरीबदास जी ने अपने आप को छुपा कर और अपने पूज्य गुरुवर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की महिमा सुनाई उन ऋषियों को तो वह नो कहने लगे ये तो चलो ठीक है कबीर साहब ने तो कुछ भी किया आप में की जानकारी है आपको के ज्ञान से उन्होंने धोती कुर्ते वाला जमींदार दिखा कि कुछ नहीं जानता हूं बात बात बनावस तो आपको क्या जानकर हम आपसे पूछ रहे हैं कबीर साहब से नहीं आप अपने ज्ञान का परिचय दें महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो हम मेरे द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ तुम्हारे चारों वेदों को मिलाकर भी ज्यादा मंत्रों वाला है वेदों का विवरण सुनो चार वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद शामवेद अथर्ववेद ये चारों वेद बताए ऋग्वेद में क्या है इसमें शतुतियां हैं भौतिक ज्ञान निरंजन ज्योत स्वरूप तक का है इसमें दस मंडल आठ अष्टक और चौसठ अध्याय पचासी अनुवाक और दस एक हजार अट्ठाईस सूक्त है और दस सौ चौबीस वर्ग दस दस हजार पांच दस हजार एक हजार चौबीस वर्ग दस हजार पांच सौ बावन मंत्र और पच्चीस हजार तीन दो लाख तिरपन हजार सात सौ बानवे शब्द और 209 देवता और तीन सौ चम्बन ऋषि यानी इसमें पात्र बना रखे ये ऋग्वेद का वर्णन है अब इसके कुल मंत्र जो हैं अपने जो मंत्र हैं इसमें वेद मंत्र इसमें लिखा है दस हजार पांच सौ बावन अच्छा यजुर्वेद में लिखा कर्म कांड है यज्ञ का वेद है इसमें चालीस अध्याय और 1975 मंत्र है नब्बे हजार पांच सौ पच्चीस शब्द है कर्मों व यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है अब साम वेद है उपासना साधना का वेद है ज्योत स्वरूपी निरंजन तक है इसमें सत्ताईस अध्याय हैं सतासी श्याम अठारह सौ पचहत्तर मंत्र श्याम के दो भाग हैं पूर्वाचिक उत्तरार्चिक आगे अथर्ववेद इसमें साधना से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है जिस प्रकार साधक को पता चल जाता है कि उसकी साधना किस स्थान पर है क्या स्थिति में है इसमें 20 कांड 25 प्रापाठक अनुवाद 760 सूत्र सूक्त और 731 वर्ग व पांच हजार नौ सौ सतर मंत्र हैं यहां लिखा है कि 21 ऋग्वेद की 101 101 यजुर्वेद की 1000 श्यामवेद की और 9 अथर्ववेद की कुल चारों वेदों की एक ग्यारह सौ इकतीस शाखाएं हैं चारों वेदों के कुल बीस हजार तीन सौ उनासी मंत्र हैं चारों वेदों के मिलाकर के कुल बीस हजार तीन सौ उनासी मंत्र हैं अब सुनो मेरा दास का ज्ञान <clears throat> मैं नी अक्षर हूं मैंने ग्रंथ लिखवाया है जिसमें चौबीस हजार मंत्र हैं जो पांचवा वेद है हम संत हरदम पढ़ते हैं वह सूक्ष्म वेद है चारों वेदों को पढ़ने वाला कभी भी जमदूतों से के जपेटों से नहीं बच सकता गरीबदास जी की वाणी माता है गरीब <clears throat> जो नर चारों वेद कथनते <clears throat> देखे जम की जाली यानी काल के ही जाल में रह गई भैरव ने रक्षा ना किन्नी ना खित्र पाल रखवाली ग्रीब ज्ञान दान ब्रह्मा दिया सकल सृष्टि माही और सोम डोम मांगत करे जिन कुछ दीना नाही अब सतगुरु महाराज कहते हैं ग्रीब चारों युग में हम पुकारे कूक कया हम हेल रे बीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे कि हम जो रास्ता मार्ग दर्शन कर रहे हैं वो सत्य है और जो तुमने आज तक सुना वो मतलब ब्रह्म तक की स्थिति का ही आपको ज्ञान हो इस प्रकार वो चारों योगी महायोगेश्वर जो नौ योगेश्वर थे सतगुरु महाराज के चरण छूकर चले गए कि आपकी महिमा अपरंपार है अब थोड़ा सा हम वाणी आपको पढ़कर सुनावांगे ताकि आपको ज्ञान हो कि बंदी छोड़ का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है उसके बाद आपको 24 सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहब में 24 सिद्धियां का जो का तो वर्णन कर रखा है कि उनसे किक की उपलब्धि हो सके सतगुरु महाराज गरीबदास जी का मूल ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे क्यों ज्यादा तो ये अकेला है मूल ज्ञान इतना हनुमान दस दिन में इसका व्याख्या हो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं बेदे संग मिले दिलदानी जब ये पावे अक्त कहानी उन्हें समझना लगे कि महाराज हमने तो ना सुना था वो योगी कहने लगे कि ऐसा ज्ञान बंदी छोड़ हमने तो नहीं सुना था न बोले बेदी संग लीजे दलदानी जिसने वो जानकारी हो उसके शस बनो आप मेरे से उपदेश लो लाइट पल में पहुंचाऊ तो पर मानता यहां कोई नहीं जो जहां रंग चुका है जहां बैठ चुका है उसे ऊपर न सरकन जी नहीं करता बल्कि ज्ञानी होकर के श्रेष्ठ ज्ञान को नकारा कर देते बेदी संग मिले जलदानी जदिया पावे अक्त कहानी प्रथम अंजल संयम रख योग लक्षण सब सतगुरु है प्रथम अंजल संयम यानी कम खावे थोड़ा रोट थोड़ी रोटी खावे नो भरे नहीं पेट को और कम पानी पीवे यानी आवश्यकता अनुसार खावे इतना भी नहीं ज्यादा खा ले कि आलस बन जावे उठ ना सके या कई कई बार टट्टी जाना पड़े यानी थोड़ा खावे और फिर साधना शुरू कर दे <coughs> योगियों को बताते हैं फिर अपना रास्ता बताऊंगे क्रिया नेम गणेश बखानो धोती नीति कर अस्थानो अदरी बदरी बंद बाई द्वादश खेच पताल समाई बामा चरण गुदा गुदाम लावे आसन इंद्री मूल समावे ये शब्द आसन है कि बाएं पा की एडी गुदा और लिंग के बीच में स्थान है जिसमें वहां लगावे और दूसरे ने उसका ऊपर धर ले दाए ने इसको कहते हैं सिद्धासन बंदी छोड़ कहें कदे नो सोचते हो कि क्या एक नहीं मालूम था ये बता रहे बामा चरण गुदा मै लावे आसन इंद्री मोर समावे दैना ऊपर अस्तर रखे दो स्वर खेच पता लो दाख दो स्वर ये <clears throat> प्राणायाम कई प्रकार की एक तो ऐसे इस बाएं नाक से सांस लिया इसको बंद कर लिया फिर बाएं को बंद किया दाएं से काट दिया फिर वापस बाएं दाएं से ले ये रोक लिया इसको कुंभ कहते हैं फिर वापस इसी से निकाल दी ये एक पूरा प्राणायाम हो जाता है एक दूसरा होता है कि एकदम खींच ले और फिर एकदम छोड़ दे इस सांस जब कति टूटन में होले जब उल्टा लिया है यो मन भाग्या हुआ वहां डट जाएगा जब यू सोचेगा तू मरेगा अब कितना मन जा रहा है नाक बंद कर ले कोई आकर और सोचा मर गया रहा है सारे दुख ने भूल जाता है वहां एकत्रित हो जाता है इस प्रकार ये प्राणायाम एक बार इस मन को कुछ समय के लिए स्थान पर ले आवश्यक पर पूर्ण रूप से नहीं रोक सकती है सिद्धि त्रिका विधि कहते दोनों सवर खेच पतालो धावे और फिर मतलब घूम घाम कर जहां भी जिस लोक में जाना है वहां पहुंचे दंड को राख है सोदा जाका कमल न हो मुदा दंड इस पिछले कड़के बांस नु सीधा रख अब ये कमल कड़के बांस का बहुत छोटी छोटी इसमें छोटी छोटी गांठ सी यानी जैसे सांप आपने देखा हो मरिया हुआ उसकी हड्डी हड्डी देखे ऐसा उसे और यो ऐसे मुड़ता मुड़ता कति मुड़ जाता है ये इतना होकर के न्यू हो जा जब हम न्यू हो जाए तो कहते हैं यहां पर कमल बने हुए हैं ये जो कल दिखाए थे इनमें पत्तियां हैं वो कमल जैसे यहां लटक रहा है वो पत्ता कमल बना वो नो नो हो जाए नीचे ने ये भी नीचे हो जाए और यो भी नीचे हो जाए जब नो करना और सीधा करना में ये नो सीधे खड़े हो जाए वो पत्ती अपने अपने स्थान पर खुल सीधा थोड़ी थोड़ी पूर्णतः खुलती है मंत्र से या योगी खोलते योग विधि से तो वह न्यू न्यू का न्यू राखे ताकि वह तेरे कमल सीधे रह जाए कमल मुद्दे ना हो मेरे दंड को राखे सोदा जाका कमल ना हो वह मुद्दा यानी मुंदे ना पड़े नीचे ये बता इसमें संस्कृत अच्छी किया अच्छी जो कति सीधा आम व्यक्ति समझ ले इसने समझान लाग रहे और वो संस्कृत में कह रखा तो यू निरपेक्ष अपरमात्मा हुआ ना कि वो जिसने केवल संस्कृत में लिख दिया दम का दगड़ा मंजन मांझे सुनका सुरमा अंजन अंजन दम यानी सांस के द्वारा रास्ता बनाते हैं योगी जन नूचाल मेरे दंड को राम रसायन फूल चुवावे एला पिंगला फेर चलावे वही इला पिंगला वही दो सुर एक ही चीज सांसों से चलकर फिर इला पिंगला में प्रवेश करती नाड़िया हैं दो आगे जाल दोनों स्वरों से सांस निकल कर जब खूब व्यास हो जाएगा जब इला और पिंगला खुले इला पिंगला की फिर अच्छा अभ्यास हो जाएगा वैसे तो सांस फेफड़ों में जाता है प्राणायाम से वो इला पिंगला में प्रवेश करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा इला पिंगला की अभ्यास के बाद फिर एक सुषमा नाड़ी है जैसे दोनों जागरी जहां मिलती है उनके मध्य में इला इंद्र चलीजा पिंगला इधर आ जाती है उनके मध्य में एक और सुराक्ष है जो वहां से इला चल सुषमणा चलती है सुषमना जाति वहां पर इला पर अपने स्थान पर और दूसरे उस स्थान पर चली जाती है इला पिंगला इला इड़ा कहते इसको और पिंगला कहते हैं बाय को इसी को महाराज ने इसको चंद्रद्वार कहा जो कि ओलास है ये शीतल होता है और इसको सूर्य कहा इसको सूर्य द्वार इसको चंद्रमा कहा इसको सूरज भी के नाम से आगे संबोधित किया चंद सूरज दो थेगड़ी लगाई तो ये एक चंद और एक ये सूरज कई लोगों का मिला नाख्यान चंद सूरज कहे नहीं ये चंद सूरज इला पिंगला गर्म और शरद दो दे दिखाई ये इसी को लेकर चले इतना गहरा ज्ञान बंदी छोड़कर सुषम कहते ना राम रसायन फूल चवावे एला पेंगला फेर चलावे सुषमन सुरत लगावे दानम चंद्र सूर मुंद शशिभानम ये चंद्र सूर ये बंद हो जाएंगे यो भी और यो पहले यहां से शुरू करना फिर ये बंद हो जाएंगे दो सवर और फिर वो इला पिंगला शुरू हो जाएगी उसमें से फिर सुष्मा में प्रवेश कर जाएंगे दो मुख की नग्नि गैलावे मेरे दंड को उल्ट बहावे अब यहां से चले यहां पर नाभि को नुमाए और नाभि कमल की वह नागिनी जो कल बताई थी उसके पीछ सांस तक वो खड़ी हुई है और उस ट्यूब के नली का जो कि आगे चलती है उसको बंद कर रखा तीन पेच लगाकर लपेटे उसको खुल जाता है सांस रुक जाने से वह नीचे मुंह ले से उसमें योगी करके मूल कमल में जाते हैं पहले नाभि कमल से रास्ता नीचे को भी जाता है नीचे मूल कमल में जाते मूल कमल से सिद्धि प्राप्त करते गणेश जीते कल आपने सुना था ना कि हृदय सिद्धि भंडारा है मूल कमल में गणेश है हृदय सिद्धि चौर रहा है उस सिद्धियां वहां से लेकर योगी फिरागर ने उन सिद्धि सहारा देती उनको एक सिद्धि आपका से उड़ जाए या आपको बीच में थोड़ा सा वर्ण सिद्धियां का भी कर देता हूं हमने तो एक सिद्धि देख ली किसी महात्मा के पास और उस समय का तो तो वो चाड़ा है महात्मा के इसे ही शिवारम या योगी तय बंदी छोड़ फिर आगा तो आपको नरी नरी वर्ण देकर बतावांगे कि वो योगी कहाँ पहुंचे जो सहस्री रुड़ जाया करते थे और फिर कहा जाओगे अगला उन्वरण दे रखे शब्द महल में शब्द महल में सिद चौबीसा तो हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा एक सिद्धि सुरदेव मिलावे एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे एक सिद्धि सुर के हैं देवता सुर देव एक ही हो गया सुर कहोचे देवता को अपने ईष्ट के पास ले जाती है जो जिसका उपासक जैसे विष्णु उपासक भी योग विधि कर रहा है तो उसकी एक सिद्धि है जो सुरदेव हुआ उसके उस देव के पास वह सिद्धि ले जाकर छोड़ देगी ये आठ सिद्धि द्वारा कुल बंदी छोड़ने चौबीस सिद्धियां बता रखी एक सिद्धि सुरदेव मिलावे एक सिद्धि मन बतावे एक सिद्धि ऐसी होती है आपने देखा होगा कि भाई एक महात्मा ऐसा है उधर तो चले जा है ना जानते नो बता दे रहा तो कौन सा गांव मत आया है और के सोच रहा था तू उड़े सी खड़ा था उड़ा के सोच रहा था और फिर कोई प्रश्न करना है उसकी आप बता दे तू ये कहना चाहो मंदी छोड़ के हैं इस तरह उसने परमात्मा प्राप्ति वाला आदमी ना संत ना समझियो आपको सच बताऊं कि एक बार हमारी बहस खो गई थी हमारे घर वाले गए उछा पड़वान क्यों अनजान करा कि चलेगा और उन्हें शक कर लिया किसी व्यक्ति विशेष पे वहां गए तने बोला भाई अपने न्यारे न्यारे कागजा पे दस आदमिया के नाम लिख दो और जिन मत तो एक आदमी हो जिस पर थारा शख्स है उनने उस शक वाले आदमी का नाम लिख दिया उसने फट दे मीट मूच का मूंद का आंख और वह पर्ची काट दी जिसकी उनके मन में शक था ये मेरे पिता जड़े बैठे ये गया था गेला उनका तो उसके बाद वो भाई पुलिस में भी दिया पुलिस वाले ने बोले भाई तरी पूछा गया आधार पता हम इसने कुछ कहा को नहीं ने बाकी हमारी तरफ से चोर नहीं फिर पता भी चला को चोर नहीं था दूसरी बार फिर गए राजस्थान में फिर दूसरे पर शक कर लिया जो बोला भाई जिस पर थारा शख्स है वो पर्चिया में लिखवा दो लिखवा दिए दस नाम उसने फट जो नए पर शक था वो काट के दे दिया क्यों आड़त पूरा विचार करके चला मन उड़ा देखा और उसमें पूछा और नो बोलिया उसकी नो करती थी मैं पक्का चोर से तो उड़द सारे बतला भी जहां राम है सारे के मन में फिट हो जा है पक्का चोर से और जानने लिख दे उसने वह एक कागज ठा के दे दिया जो नया चोर सिद्ध कराया था अपने आप में हमने उन्होंने बोला यू चोर से फिर आए वो उसको न पंचायत करी भाई क्यों खाम खा दी गेड़ बना रहे हो कार उसने चोर बताओ थे आज यू बताने लाग रहे तो भाव ये वो भी चोर नहीं था उसका कोई भेद नहीं चला उस बहस का तो भाव ये से कहने का कि ये सिद्धियां होती हैं ये तो वो एक पूछा पाठ में बता दे तेरे मन में कि मन वृत्ति बता दी उसने मन की वृत्ति बता और न्यो बता दे और साधु आंख में चुन बैठा न वो भगवान के चाड़ा से बंदी छोड़ते हैं गदे की जुनी जाएंगे ये लोग इस सतगुरु का प्रमाण से आपके सामने प्रमाणित से कोई ऐसी वैसी बात नहीं है को हम अपने घर घर से कहते हैं एक सिद्धि सुर देव मिलावे एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी ही एक सिद्धि हो वह अनुरूपी एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी अभा में ये समान हो जाते हैं दिखते नहीं एक सिद्धि निस्वासर जागे एक सिद्धि सेवक हो आगे एक संत गांव के बाहर जा बैठा है और देखा गामड़ा वायु काल का बैठा है और सौंदा नीनो बैठा है और यह घूम फिरावा से फिर बैठ जा हमने सुता नहीं देख लिया तीन दिन हो गए इसना आंख नीचे और लोग क्या देखने लगे दस दिन हो गए हम सोए नहीं उसके पांव पकड़े और मंदिर बना दिया और मार बेगन तार दिया